ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय सोलह श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था वो श्लोक हो भी गया था कहा द्वाभिमो पुरुषवलोके लोके क्षरश्चा क्षरय वचा क्षरा सर्वाण भूतानी कूटस्थोक्षर उच्चते देखो भगवान के शास्त्रों में तीन प्रकार के स्वरूप का वर्णन है सगुण साकार सगुण निराकार निर्गुण निराकार तीन तरह का वर्णन है कहीं सगुण साकार रूप से वर्णन होता है कहीं सगुण निराकार रूप से वर्णन होता है कहीं निर्गुण निराकार रूप से वर्णन होता है तो श्रोताओं को उसमें किस स्थान पर कैसा प्रसंग आया समझ करके अर्थ लेना होगा या तीनों पुरुष का वर्णन है सगुण साकार भी है सगुण निराकार भी है और निर्गुण निराकार का भी है उत्तम पुरुष शब्द से निर्गुण निराकार को लिया जाएगा और क्षर सर्वाणी भूतानी का भवंती तो भूतानी जितने होने वाले हैं सब भूत कहलाते हैं तो रामकृष्ण आदि के जो शरीर है वो भी हुआ है होना है और रहा भी नहीं वो शरीर रहा भी नहीं कुछ काम करने के लिए रूप धारण किया था काम हो गया रूप समाप्त हो गया ऐसे ही जितने भी क्षर हैं सर्वानुभूतान जो होते हैं जो भी उत्पन्न होते हैं शरीर आदि से आते हैं वो क्षर पुरुष कहलाता है माने वास्तव में होता क्या है उपाधि का ही नाश होता है उपेद का नाश नहीं होता कहां देखा हमने कथाकाश में देखा जो आकाश एक विशेष स्थिति में घटाकाश नाम प्राप्त किया है उसने वास्तव में आकाश है वो घट रूपी उपाधि के कारण उसको घट का आकाश घटाकाश कहा था किंतु तो, तो उसको अब तोड़ना है तो आकाश नहीं तोड़ा जाएगा उपाधि को तोड़ा जाता है घट को तोड़ा जाता है आकाश वही आकाश है जो पहले था सिद्ध होता है यहां उपाधि क्षर है इसलिए क्षर पुरुष कहा उसके मैंने उपाधि के साथ देखा करके क्षर पुरुष कहा गया मैंने जीव कोटि में जितने आ गए ये क्षर पुरुष होते हैं जो शरीर आदि विशिष्ट होकर के अब बैठे हैं किंतु इसका नाश नहीं होगा उपाधि का ही नाश शरीर का ही नाश होता है वास्तविकता है उसको हमें हमेशा देखना चाहिए घटाकाश के स्थान पर जाना चाहिए उपाधि का ही नाश होता है उपहित का नाश नहीं होता स्थिति ऐसी है अथवा प्रतिबिंबवाद में जाते हैं ये तो अवच्छेदक वाद है प्रतिबिंबवाद में जाते हैं तब भी देखते हैं तो वो जो उपाधि का नाश जल का नाश होता है जल का नाश होने पर जो प्रतिबिंब है बिंब ही है अतिरिक्त सिद्ध नहीं होता उसका नाश नहीं दिखाई देता नाश किसका दिखाई देता है जल का स्थिति उपाधि का ही नाश होता है जहां जहां होता हो उपहित का नाश नहीं होता स्थिति है आवासवाद से जाते हैं छाया पंचदशिकार आवासवाद वाले हैं चिदावास चिदावास चिदावास बोलते हैं पद्मपाद पद्मपादाचार्य जी बिंब प्रतिबिंबवाद वाले हैं ये जीव है प्रतिबिंब के स्थान पर है परमात्मा बिंब के स्थान पर है ऐसे मानते हैं और मंडन मिश्र जो हैं वाचस्पति मिश्र वो कहते हैं अवच्छेदक भाव माने किसी विशेष स्थिति में छोटा दिखाई पड़ता है आई वही तत्व है ये कहना है इसलिए तो यह पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण दक्षते मंत्र आता है वो पूर्ण है वह तत् वो अध पूर्णम वह अध शब्द है वह जो परोक्ष वाचक हो रहा है परमात्मा कहते तो हमेशा परोक्ष दृष्टि होती है कहीं है देशांतर में बुद्धि होती है और इदम इदम से लेना ये जो यहां है समीप समीप में है ये भी पूर्ण है कहते हैं ये पूर्ण कैसे हो गया आप देखना है वो तो पूर्ण है या इदम शब्द से जीव को लेना है तो ये कैसे पूर्ण होगा ये तो परिचिन्न है जितना लंबा चौड़ा शरीर उतने लंबा चौड़ा दिख रहा है ये परिचिन्न है तो इसमें कहते देखो पूर्ण से जो होगा पूर्ण ही होता कहते पूर्णात पूर्णम उदच्यते कहते पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है पूर्ण से अपूर्ण नहीं निकलता कभी भी ध्यान देना जैसे आकाश से निकला हुआ घटाकाश पूर्ण ही है वो उसको पूर्णता देखनी हो तो क्या करना होगा कर को तोड़ना पड़ेगा ठीक इसी प्रकार ये पूर्ण परमात्मा से आए हो ये पूर्ण ही है किंतु यहां परिच्छिन्नता क्यों दिख रही है शरीर के कारण शरीर को तोड़ो विचार से पूर्ण पूर्णात् पूर्ण दक्षते तो इस, इसको कई कैसे पूर्ण बनाया जाता है पूर्ण से पूर्ण आता है जो पूर्ण का पूर्णत्व तो लेकर के जो पूर्ण से आया था जो पूर्णत्व तो अंश लेकर के पूर्ण होता है शरीर अंशों को लेकर के परिचिन्न है पूर्ण में से जो पूर्णत्व तो लेंगे पूर्ण का पूर्णत्व तो लेने पर पूर्ण एवं अवशिष्ट पूर्ण ही रह जाता है कोई या तीन पुरुष की चर्चा है ध्यान देना यहां सगुण साकार सगुण निराकार निर्गुण निराकार तीन पुरुष की चर्चा यहां करें उनमें से दो युवा पुरुष लोग कहा ये लोक में तो दो पुरुष होते हैं एक तो अलौकिक पुरुष है जो उत्तम पुरुष है दो पुरुष है कहा क्षर अक्षर है बस एक क्षर है एक अक्षर है एक विनाशी है एक अविनाशी अविनाशी बने वो भी विनाशी है वास्तव में ईश्वरत्व तो ही नहीं रहेगा माया हटने के बाद तो ईश्वरत्व तो है माया के कारण आया हुआ है वह तो वस्तु परिचय दिखता है ईश्वर में माया के कारण है यही है तो उसको अक्षर कहा इसलिए कि आत्मज्ञान के बिना उसका नाश नहीं होता माया का नाश नहीं होता आत्मज्ञान इसलिए उसको माया विशिष्ट को अक्षर शब्द से कहा गया पुरुष पुरुष मान पूर्णा पुरुष पूर्ण है ये क्षर भी पूर्ण है अक्षर भी पूर्ण है और एक तो पूर्ण है ही उत्तम तो पूर्ण है ही है ये भी पूर्ण उपाधि के कारण से अपूर्ण रह गए थे बात तो नहीं है क्षर में उपाधि है शरीर आदि उपाधि है और अक्षर में माया उपाधि है उपाधि घटान पर पूर्ण होता ही कहना है तो क्षर पुरुष अक्षर पुरुष दो पुरुष कहा तो कौन है क्षर तो कहा क्षर सर्वाणी भूतानी भूतानी मैंने भवंती तो भूतानी जो होने वाले जितने हैं उनको भूत कहते हैं भूत शब्द व्यापक अर्थ है भवंती भूतानी जो भी पदार्थ उत्पन्न होते हों उनको भूत कहा जाता है कूटस्थ अक्षर होते थे कूट कूट में रहने वाले को कूटस्थ बोलते हैं जैसे गृह में रहने वाले को गृहस्थ बोलते हैं गृह स्थित गृहस्थ कूटे स्थित कूटस्थ कूट माने माया परिवंचना जिम्मता कुटिलता इत्यादि से कहा जाता है जिसको और उसका नाम है कूट उठ में स्थित है जो कौन है वो माया में स्थित कौन है विशिष्ट चेतन है ईश्वर जिसको कहा जाता है वह है कुटस्थ है कुट माया में कुटस्थ जो कूट माया है उस पर स्थित जो होगा उसको कुटस्थ कहा माया में स्थित है जो कुट शब्द करता है माया परिवंचना इत्यादि ना तो वंचना जमता कुटिलता आदि आदि बहुत सारे नाम है उसके अज्ञान बोलते हैं अविद्या बोलते हैं नजारे क्या क्या नाम देते हैं तो उसमें स्थित है वो जैसे गृह में स्थित होता है तो गृहस्थ बोलते हैं कूट में स्थित है इस कूटस्थ कहा तो है कूट क्यों कहा उसको कूट माने होता है जैसे लोहार के जो लोहा होता है ना कच्चा लोहा जिसमें लोहे पीटे जाते हैं तपाया हुआ लोहे पीटे जाते हैं उसको कूट बोलते हैं उसमें कितने लोहा बन गए कितने बन गए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता नीचे जो रहता है ठीक इस प्रकार उस पाया में परिवर्तन नहीं है जगत कितने बार बने कितने बार गए इसलिए उसको कूट कहा जाता है कूट कहा जाता है उसको ये कहा तो कूटस्थ अक्षर क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थ अक्षर कहा न अक्षर थे अक्षर ही होता है तो नाश नहीं होगा उसको अक्षर कहना है नाश माने लंबी आयु है इसकी तो क्षर पुरुष की अपेक्षा अक्षर पुरुष ज्यादा है क्यों जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं तब तक नाश अनाधिकाल से चल ही रहा हो स्थिति कहा रहा ये कहा था आगे कहते हैं कार्य कारणाख्यो राशि दर्शे दो प्रकार के ढेर को दिखाए राशि को दिखा दो समूहों को दिखा दे कार्य राशि और कारण राशि कार्य राशि हो गया क्षर पुरुष और कारण राशि हो गया अक्षर पुरुष दोनों को दिखाकर राष्ट्रांतर अन्य राशि बच गया एक तीन भाग है एक भाग बच गया है कौन उत्तम पुरुष उसके अर्थ करते हैं आभ्याम का ये दोनों से आभ्याम छरा छराभ्याम विलक्षणा ये दोनों से विलक्षण है उत्तम पुरुष आभ्याम ये दोनों से क्षराक्षराभ्याम क्षर और अक्षर दोनों से विलक्षण विलक्षण होता है कौन जो उत्तम पुरुष शब्द से कहना है जिसको विलक्षण क्षराक्षर उपाधि द्वय दोषेण अस्पृष्ट क्षर में जो उपाधि है शरीर आदि उपाधि जो भी है क्षर पुरुष में और अक्षर पुरुष में माया <clears throat> उपाधि है ये दोनों के दोषों से अस्पृष्ट है स्थिति है ये दोनों में जो दोष आता है उपाधि विशिष्ट में दोष होता है उपाधि में जो दोष है वो उपहित में भी दिखता है जैसे जल के हिलने से जलस्थ चंद्रमा के हिलना जैसा लगता है वास्तव में चंद्रमा हिलता नहीं है उपाधि के जो धर्म है ना उपहित में दिखाई पड़ता है भाषता है शरीराज का दोष है वो उसमें भाष रहा है किंतु वो उत्तम पुरुष में ये दोष नहीं आता उपाधि को दोष उपाधि नहीं उसके पास उपाधि हो तो उपाधि का दोष भाषे किंतु उपाधि नहीं उस उत्तम पुरुष में ये कहते हैं आभ्याम सरासरा ये दोनों जो इधम सत आभ्याम बना हुआ है ये दोनों से शराशराभ्याम विलक्षण शर अक्षर ये दोनों से विलक्षण है उत्तम पुरुष बोला जाते हैं ये तो उपाधि विशिष्ट है उपाधि रहित है उपाधि इतनी है शराशर उपाधि दो दोष अस्पृष्ट है शर और अक्षर में दोनों में उपाधि है एक में शरीर आदि है एक में माया है उन दोनों उपाधि के दोष से अस्पृष्ट है दोष स्पर्श नहीं करता उस उत्तम पुरुष को ये दोनों में तो उपाधि का दोष दिखता है कैसा है उत्तम पुरुष तो बोलेंगे नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त स्वभाव कहा नित्य है निरंतर स्थायी है जो तो उपाधि जनित होता है स्थायी नहीं होता वो उपाधि रहित है इसे नित्य है शाश्वत है और शुद्ध है वह उपाधि नहीं तो दोषी युक्त है ही नहीं शुद्ध है वो नित्य शुद्ध बुद्ध हमारे ज्ञान स्वरूप है वो उत्तम पुरुष की लिए ये बता रहे हैं और मुक्त स्वभाव है वो कोई बद्ध है ही नहीं बदा हुआ नहीं उपाधि से बदा हुआ लगता था उपाधि नहीं वहां उत्तम पुरुष में मुक्त स्वभाव वाला तो कौन है तो उत्तम पुरुष तत्व तो ऐसा बोलना है ये दोनों से भिन्न है उत्तम पुरुष मैंने सरासर उपाधि विशिष्ट पुरुष से उत्तम पुरुष भिन्न है ये बोलना चाहते आगे सुनोगे इसका टीका होगी थोड़ी वैलक्षण फल महा विलक्षणता का फल क्या है कहते हैं क्षराक्षर उपाधि द्वय दोष अस्पृष्ट विलक्षण का फल यही है क्षर और अक्षर में पुरुष में दोनों उपाधि के कारण दोनों में दोष आता था वो दोष से रहित है यही है उपाधि द्वय कृत गुण दोष स्पर्श फलित महा जो दोनों प्रकार की जो उपाधि है क्षर पुरुष में शरीर आदि उपाधि है और अक्षर पुरुष में माया उपाधि है ये दोनों उपाधि के द्वारा किए जाने वाले जो गुण थे उसका स्पर्श होने में स्पर्श नहीं हुआ कहा उत्तम पुरुष में फलितम फलित क्या हुआ निष्पन्न क्या होता है फल क्या होता है उसका स्वरूप यही होता है दोनों दोषों से रहित है उपाधिगत धर्म जहां नहीं है उपाधि नहीं तो उपाधि दोष कहां से आए उसमें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है वो कौन कौन है तो कहा उत्तम पुरुष श्लोक से बताएंगे इस बात को ये कहना है आभ्याम मैंने क्षराक्षराभ्याम ये क्षर अक्षर से क्या वो भिन्न है विलक्षण है कहा था श्लोक है उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मेतिदा हृत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्ययश्वर उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मेतिदाहृत यो लोकत्रयम आदिश्य उत्तम पुरुषस्तु अन्य तू माने किंतु दो पुरुष से विलक्षणता दिखाने तू लगा दिया तू माने किंतु उत्तम पुरुष अन्य उत्तम पुरुष जो है ना ये तो अन्य है भिन्न है ये दोनों से विलक्षण है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से भिन्न है माने सगुण साकार सगुण निराकार दोनों से भिन्न है परमात्मा यदि उदाहरित उसको परम विशेषण लगाते हैं कौन परमात्मा <clears throat> आत्मा नहीं बोलते परमात्मा कहते हैं परमात्मा आत्मा है वो यदि उदाहरित ऐसे शास्त्रों में कहा कथित कहा गया है शास्त्रों में जिसको परमात्मा कहना होता है उत्तम पुरुष ये होता है वो क्या करता है कहा यो लोग त्रय में भूर्भुव स्व ये तीन लोग मानने से सारा संसार लेना है भू से अतल आदि लेना है सारा लेना है गोबर से अंतरिक्ष आदि सारे लेना है स्व से ऊपर के लोग जितने हैं महाजना तपस्या सब सब के सब यो लोक त्रय आविष्य तीनों लोकों में प्रवेश करके जो उत्तम पुरुष तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर क्या करता है अव्यय ईश्वर जो अव्यय ईश्वर है अविनाशी ईश्वर है परमात्मा है वह विभर्ती लोगों का धारण करते हैं भरण पोषण करता है माने अधिष्ठान रूप से वही होता है उत्तम पुरुष होता है ये कहना है अधिष्ठान रूप से है अधिष्ठान ही कल्पित वस्तु का धारण पोषण करने वाला अधिष्ठान होता है या प्रवेश करना माने अधिष्ठान रूप से प्रवेश नहीं करता वो पहले से विद्यमान है सारा कल्पित है वो अधिष्ठान कल्पना के अधिष्ठान है क्षर पुरुष अक्षर पुरुष जितने पुरुष कहा गया सब पुरुषों का अधिष्ठान वही है वही कल्पना होती है कल्पना वही होती है मान जगत कल्पना की अधिष्ठान है वो कौन अक्षर पुरुष ये कहना जिसको कहा गया उत्तम पुरुष कहा गया ये कहना है ठीक है हम कहते हैं उत्तम मन उत्कृष्टतमा अतिशय उत्कृष्ट है एक तो है ये भी क्षर पुरुष उत्कृष्ट है माने जल पदार्थ की अपेक्षा उत्कृष्ट होता है अक्षर पुरुष उत्कृष्टतर होगा और वो उत्तम पुरुष उत्कृष्टतम होगा अतिशय उत्कृष्ट है जैसे या तमप प्रत्यय लगा दिखा दिया उत्कृष्ट हाँ। तम यह तमप लगता है बहुतों में एक निर्धारण करने के लिए तो इसके लिए पहले उत्कृष्ट शब्द उसके बाद वो उत्कृष्टतर शब्द उसके बाद उत्कृष्टतम ये उत्कृष्ट है इससे विशेष ये है ये उत्कृष्टतर है इससे भी विशेष ये है उत्कृष्टतम ऐसा बोला जाता है उत्तम का अर्थ उत्कृष्टतम अतिशय उत्तम है वो उत्कृष्टतम है वो कौन है पुरुष है वो पुरुष है तीन पुरुषों में एक पुरुष ये भी है पुरुष नाम भी है पूर्णात् पुरुष पूर्ण है इससे इसलिए पुरुष कहा जाता है तू मन किंतु उत्तम पुरुष तो अन्य अन्य मन अत्यंत विलक्षण क्षर और अक्षर से अत्यंत विलक्षण है ये उपाधि युक्त है दोनों क्षर और अक्षर उपाधि रहित अत्यंत विलक्षण है उत्तम पुरुष तो यह है आभ्याम विलक्षण किससे आभ्याम इन दोनों से विलक्षण है पहले वाले जो कहा हुआ दो थे क्षर और अक्षर पुरुष उपाधि विशेष है दोनों उपाधि रहते जो यह विलक्षण है अन्य का अर्थ विलक्षण कहा परमात्मा इति इसको परमात्मा कहा जाता है उदाहृत कथित शास्त्र में कथित है परमात्मा शब्द से किस शब्द से उत्तम पुरुष को परमात्मा कहते हैं परमात्मा इति परमात्मा बनाने कर्मधार्य समाज से बोलते हैं परमस्य असो आत्मा से परमात्मा यही होगा परमस्य असो देहादि अविद्याकृत आत्मभ्य पर है वो कैसे देहादि की अविद्या किया हुआ जो आत्मा देहादि को भी आत्मा बोलते हैं इससे पर है विलक्षण है इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है ये कहा परस असौ आत्मा से बोल रहा है तो देहादि को भी आत्मा शब्द से कहा जाता है कभी कभी देहादि जो अविद्याकृत आत्मा है ना इससे भिन्न है पर है इसलिए उसको परमात्मा कहा जाता है सर्वभूतानाम प्रत्यक्ष चेतन कहते सारी प्राणी मात्र के प्रत्येक अपना स्वरूप है इनका चेतन है वो प्राणी मात्र उसी में कल्पित है जितने भी सभी भूत जड़ चेतन वर्ग जितने उसमें कल्पित है अज्ञान में काल में कल्पना होती है उसी में जैसे आकाश में बादल में जैसे हाथी आदि की कल्पना होती है बादल मरुभूमि में जल की कल्पना होती है उसी प्रकार अधिष्ठान कल्पना के अधिष्ठान है सभी भूतों की कल्पना वही होती है अज्ञान काल में है परमात्मा है उसको संसार रूप से कल्पना करता है जीव है परमात्मा ये सभी परमात्मा ही है ये नाम रूप अंश को बाद होते या कोई अन्य है नहीं एक ही परमात्मा है ये नाम रूप को लगा करके यहां जगत रूप में दिख रहा है जो जीव परेशान हो रहा है दुखी हो रहा है नाम रूप अंश को लेकर इसको त्याग के देखो ना सब परमात्मा से अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं स्थिति जब सर्प को रज्जु बुद्धि में देखा गया तो सर्पादि कोई पदार्थ होते ही नहीं रज्जु होती है दृष्टि भेद ऐसा है अज्ञान काल में जगत दृष्टि हो जा हो रही है अज्ञान काल में यह क्या दृष्टि परमात्मा दृष्टि हो जाती है ज्ञान और अज्ञान में इतना फर्क है हाँ, तो सर्वभूतान प्रत्येक चेतन प्रत्येक चेतन है वो अंतरात्मा है सबकी उसी में कल्पना है सारे भूत का अतः इसलिए कहा परमात्मा इत उदाहृत इसलिए परमात्मा शब्द से कहा गया है हाँ उक्तो तो वेदांत उपनिषद में जिसको परमात्मा कहते किस में हाँ, परमात्मा उदाहृत है कथित है कहा कहा वेदांतों में उपनिषदों में वेद के अंतिम भाग को वेदांत बोलते हैं वेद की जितने भी शाखाएं हुई है बहुत सारी शाखा उनमें अंतिम अंतिम मान प्रकट आता है ज्ञान कांड आता है वो वेदांत उपनिषद है सैव विशिष्ट उसी के यहां विशेषण लगा देते हैं क्या यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त अव्यय कहा तीनों लोगों में प्रवेश करके आविष्ट होकर के प्रविष्ट होकर सभी लोगों को भरण पोषण भी कर रहा है माना सत्ता पूर्ति देने वाला वही है उसी के सत्ता स्फूर्ति कल, कल्पित वस्तु में दिखती है रज्जु जितनी लंबी होगी सर्प उतना ही लंबा दिखाई देगा जितना मोटा मोटी रज्जु होगी उतना मोटा सर्प दिखाई देता है उसी के अस्तित्व और स्फूर्णत्व कल्पित में दिखता है ठीक इस प्रकार है सैव विषय परमात्मा के विशेषण लगा देता है यो लोकत्रयम कहा तीनों लोगों में आविश्य प्रविष्य कहा हुआ है लोकत्रय मन भूर भुवस्वराख्यम कहा तीन लोग या तीन लोग कहते हैं वो चौदह भुवन उसी के अंतर्भूत हो जाते हैं भूलोक माने नीचे के लोग सात अतल वितल आदि और भूर भुव स्व महाजन तप सत्य भूर लोक से लेकर के सत्य लोक तक सात लोग ये लोग भी ऊपर की तरफ गिनना है जैसे या तीन लोग करके कहा गया एक पृथ्वी है माना और एक अंतरिक्ष है और एक स्वर्ग इत्यादि नाम से कहा गया जो भूर्भुव स्वराख्यम सारे प्राणी इन्हीं में होना है यो लोकत्रयम भूर्भुव स्वराख्यम जो भूर्भुव स्वर नामक लोक हैं स्वकीय या चैतन्य बल शक्तिया आवश्यक है अपने शक्ति से प्रविष्ट होता परमात्मा कौन सी शक्ति माया शक्ति नहीं चैतन्य शक्ति के द्वारा प्रविष्ट होती है परमात्मा स्वकीय या अपनी शक्ति है परमात्मा की ओर चैतन्य शक्ति चैतन्य बल शक्ति है चैतन्य बल रूपी शक्ति के द्वारा आविश्य प्रविश्य प्रवेश करके वो परमात्मा विभर्ती माने स्वरूप सद्भाव मात्र विभर्ती है अपने कोई क्रिया करके नहीं भरण पोषण करता हो जैसे पिता पुत्र के लिए कोई भरण पोषण करता है साधन जुटा करके ऐसा नहीं अपने स्वरूप की सत्ता मात्र से किस रूप से हाँ जैसे सर्प का भरण पोषण करने वाली को रज्जू अपने सत्ता मात्र से अस्तित्व मात्र से अधिष्ठान है वो ठीक इस प्रकार यहां स्वरूप सद्भाव मात्र विभर्ति डुबरिया धारण पोषण धातु है धारण करना पोषण करना धारयती विवर्ती करता धारयती क्यों धारण और पोषण दो अर्थ में है धारण करता है परमात्मा स्वरूप सत्ता मात्र से माने क्रिया के द्वारा नहीं वाणी के द्वारा नहीं केवल सान्निध्य मात्र सत्ता है उसके बाद अव्यय ये पुरुष अव्यय पहले वाले दोनों व्यय थे विनाशी थे पहले वाले हाँ कूटस्थ में कूटस्थ भी विनाशी है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नाश होता है उसका आत्मज्ञान के द्वारा या अव्यय कहा या विनाशी है नवेती है अव्यय जिसका खर्चा नहीं होगा उसको अव्यय कहा जाता है नाश्य व्यय विद्यते इति अव्यय जिसका व्यय नहीं होगा खर्चा नहीं होगा विनाश नहीं होगा रूपांतर में नहीं जाएगा उसको कहते हैं अव्यय अव्यय ईश्वर सर्वज्ञ अधिशांत सर्वज्ञ है वो नारायणाख्य जिसको नारायण कहा जाता है शास्त्रों में नारायण शब्द से कहा जाता है नरा राम अयनम नारायणम ये जीवों की परम गति वही है वहीं जाने पर शांति मिलेगी नहीं तो शांति नहीं मिलने वाली अवतार बाद में तो सब दुखी हुए हैं जितने भी हैं सब दुखी हुए सर्वज्ञ नारायण वो सर्वज्ञ है नारायण है नारायण नाम है ईशनशीला सबको शासन करने की शक्ति उसी में है माने सान्निध्य मात्र से कैसे सान्निध्य मात्र से शासन करना उसने क्रिया के द्वारा नहीं वाणी के द्वारा नहीं कोई अन्य को शासन करता है क्रिया के द्वारा और कोई करता है अपने वाणी के द्वारा जैसे सेना को राजा बोल देते हैं लड़ो लड़ना पड़ता है लड़ेंगे हार जीत राजा का कहा जाता है राजा का हार में बातों सेना की है बोला जाता राजा की ऐसे ही यहां माने वाणी के द्वारा प्रेरणा दी उसने किंतु ये जो उत्तम पुरुष है कि सान्निध्य मात्र से प्रेरणा देता है संशासन करना है ये कहा है ठीक है देखेंगे आभ्याम अक्षराभ्याम विद्या आभ्याम शब्द भाष्य में उसको कहते हैं अक्षरा क्षराक्षराभ्याम क्षर और अक्षर से दूसरा है परमात्मा कहा जाता है जिसको यही है उत्तम ये दोनों से अन्य है विलक्षण पुरुष उत्तम पुरुष है कहा उत्तम पुरुष अन्य उत्तम अन्य पदद्वयम वस्तुतः सर्वथा एवं दृष्टि दृष्ट जाते हैं जो तो दो विशेषण के उत्तम और पुरुष उत्तम लगा दिया तो पुरुष का नहीं क्या जरूरत उत्तम और अन्य यदि पद एक तो उत्तम कहा एक अन्य कहा उत्तम कहने से अन्य तो आ ही जाएगा तो फिर अन्य शब्द क्यों कहा होगा ये दो पद के द्वारा क्या करते हैं कहते वास्तव में सर्वथा एवं चराचरत्व चराचरात्मत्व भाव किसी प्रकार से क्षर अक्षर नहीं होता ये उत्तम पुरुष इसको कहने के लिए उत्तम और अन्य दो विशेषण लगाया होगा क्या कहा उत्तम पुरुष तो अन्य है अन्य और उत्तम दो शब्द क्षेत्र और अक्षर से कभी भी वो संस्पर्श नहीं उसका शून्य है ये कहा जड़ वर्ग से अन्यत कृतम अन्यत्व कृतम स्वातंत्र निषेध जड़ में शासन करने वाला अन्य कोई होगा अन्य पदार्थ कोई होगा मैं उत्तम पुरुष नहीं होगा इसको खंडन करते हैं नहीं जड़ वर्ग को शासन करने वाला यही अधिष्ठान कल्पित वस्तु का शासन वही करने वाला है रज्जु हिलती है तो सर्पों को हिलना होता है रज्जु शांत है तो हवा से रज्जु हिलती है वह सर्प नहीं हिलता वास्तव में हिलना होता है दिखता है और रज्जु शांत होती है हवा नहीं है सर्व शांत हो गया लगता है उसी के शासन में हो उसके बिना वो उसको काम ही नहीं कर सकता हो कल्पित वस्तु यही है अधिष्ठान के शासन में चलता है ये ये कहना है सएव इत्यादि कहा था इसी को सएव शब्द ने कहा था सएव विशेष उसी का विशेषण लगाया जाता है उत्तम पुरुष करके ये लोग त्रय भोर भोर भोर भोर साक्षम सुखी है चैतन्य बल से कहते आविष्य का अपने चेतन शक्ति के माध्यम से प्रवेश होना ये माया शक्ति के द्वारा नहीं इत्यादि कहा था लोकत्रय में तो उपलक्षण करते तीनों लोग को शासन करता है वो ये तीनों लोग को भरण पोषण करेगा अन्य को नहीं चौदह भूमि की चर्चा है तो कहते नहीं ये उपलक्षण है लोकत्रय में शब्द उपलक्षण है अपना ग्रहण करता हुआ अन्य का भी ग्रहण करेगी उसको उपलक्षण कहा जाता है स्वकार हुए सकते अन्य से हूं उपलक्षण लक्षण उपलक्षण अपना ग्रहण करता हुआ अन्य का भी ग्रहण करे ये शब्द उपलक्षण में है यह लोकत्रय विषय इत्यादि लोकत्रय भी तो उपलक्षण सर्वम भी जगत विवक्षित यहां पर लोकत्रय शब्द संपूर्ण जगत विवक्षित है संपूर्ण लोगों का भरण पोषण करने वाला वही अपना सत्ता मात्र से अस्तित्व मात्र से धारण करने वाला वही है कहा चैतन्य में बलम चैतन्य उसका बल है वो चेतन में चैतन्य है चैतन्य बल उसके पास है चैतन्य में बलम तत्र शक्ति माया वहां चैतन्य बल शक्ति का आता शक्ति मैंने माया तया इत्यर्थ वो माया शक्ति चैतन्य शक्ति है शक्ति माया है चेतन में चेतन बल है उसमें शक्ति माया है उसके बाद उसी कारण से सतमुर जगत को धारण करता है कहा जगत धारणे पर से व्यापारांतरम बारे थे जगत धारण अन्य कोई अन्य का व्यापार होगा इसका नहीं होगा अन्य कोई धारण करता हो जगत का उत्तम पुरुष भिन्न कोई होगा जगत धारण अन्य व्यक्ति का व्यापार हो उस शंका का खंडन करते हैं नहीं अन्य व्यक्ति नहीं यही है ये कहा है स्वरूप इत्यादि कहा था इसका स्वरूप सद्भाव मात्र विभक्ति क्रिया के द्वारा माने धारण नहीं करता जगत का उठाना आदि धारण है स्वरूप सदभाव मात्र स्वरूप अस्तित्व मात्र से जैसे सर्प का धारण रज्जु करते हैं स्वरूप मात्र से रज्जु में क्रिया के बिना ही कहा <clears throat> न तो अश्य अन्योधारिता फिर इसका धारण कर ये जगत को धारण करने वाला तो ये हो गया परमात्मा उत्तम पुरुष इसका धारण करने वाला कोई अन्य नहीं है कहते हैं न तो अश्य धारिता स्वतो अचलत्वाद क्यों अचल है उत्तम पुरुष अचल है व्यापक है इसलिए धारण करने वाला कोई दूसरा है ही नहीं स्वरूप तो अचल है अचल का चल माने क्या होता धारण माने क्या होता है ऊपर होना आधार आधे भाव होना आदि यहां होने से अचल है जो चलायमान में होगा किसी को उठाना धारण करना चलायमान पदार्थ परिचन्न में होता है ये व्यापक है अचल है उत्तम पुरुष अचल है चलायमान नहीं है इसलिए अन्य के द्वारा धारण होना संभव नहीं अव्यय का इस लगा अव्यय है विकार नहीं होगा क्यों इसके बारे में कहा है चेतास्वरूप से कहा है संयुक्त अभे अक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्व में सहाय है संबद्ध है एक क्षरम अक्षरम च संयुक्तम ये दोनों के क्षर और अक्षर इसी में संबंध है तो उत्तम पुरुष में संबंध रखते हैं माने शुद्ध में कल्पना होती है जल में बर्फ की कल्पना होती है कि वहां उपाधि के कारण कल्पना होती उपाधि के शीतता शीत ठंडी रूपी उपाधि के कारण से है जल किंतु बर्फ दृष्टि पर दिखाई देता है अज्ञानी उसको बर्फ समझते हैं किंतु जो जल के विवेकी होंगे वास्तव में जल को जानने वाले क्या समझे जल समझेंगे उसको ये ज्ञानी अज्ञानी के अंतर है यहां भी अज्ञानी को जगत रूप में दिखता है क्षर और अक्षर रूप में दिखेगा ये क्षर पुरुष अक्षर पुरुष स्थिति में किंतु ज्ञानी को उत्तम पुरुष दिखता है बात इतनी है एक संयुक्त में क्षर अक्षर क्षर और अक्षर शरीर में संयुक्त है उत्तम पुरुष में दोनों ही दोनों उसी में है जो विशिष्ट होता है शुद्ध में है शुद्ध में कल्पना है विशिष्ट की क्षर पुरुष हो चाहे अक्षर पुरुष हो इसी में संयुक्त है किसमें उत्तम पुरुष में अक्षर जो उत्तम पुरुष हो ये तत् क्षरम अक्षर ये जो दोनों क्षर और अक्षर कहा संयुक्तम इसी में संयुक्त है व्यक्ता व्यक्तम जो एक को व्यक्त बोलते हैं छेर को व्यक्त बोलते हैं स्पष्ट है यहां दिख रहा है प्रतिभाषित है कौन छर और अक्षर को अव्यक्त कहते क्या बोलते हैं अव्यक्त बोला गया दोनों के दोनों ये क्षर और अक्षर व्यक्त और अव्यक्त शब्द से कहे जाते हैं इससे भी संयुक्त है किसमें उत्तम पुरुष में निर्विशेष में संयुक्त है निर्विशेष से ही सविशेष भान हुआ है अज्ञान के कारण सविशेष लग रहा है है तो निर्विशेष ही है जिस अवस्था में हम जग देख रहे हैं यहां भी एक ही निर्विशेष तत्व एक विवाह द्वितीय अद्वितीय तत्व ही है किंतु तो हमारी दृष्टि बुद्धि रूपी दृष्टि बिगड़ी हुई है जिसे हमें क्षय रूप में दिख रहा है विनाशी रूप में दिख रहा है यह स्थिति है एक संयुक्त वेत क्षरमक्षरम च व्यक्ता व्यक्तम भरत विश्वसा डुबरिया भर उभयपति धातु या भरत बोल दिया वो धारण करता है क्षर अक्षर दोनों को धारण करना जो सारे विश्व क्षेत्र अक्षर में विश्व संपूर्ण विश्व आ जाते हैं वो यही हमारे जो ईश्वर है निर्विशेष आत्मा है उत्तम पुरुष यहां कहा जा रहा है वही सबको धारण करने वाला वही होता है क्षर को भी अक्षर को भी क्योंकि जो सविशेष बर्फ को धारण रहा है जल ही है जल ना हो तो बर्फ कहां से दिखे है जल वही उसकी सत्ता में रह रहा हो इसी प्रकार समझ रहा है आगे कहते किंच और भी बात बोलना चाहते हैं लोकवेद और भगवतो नाम प्रसिद्धिया सिद्धम अप्रपंचत्व इत्याह कहते हैं लोक और वेद दोनों में लोक में बोलते हैं परमात्मा का नाम भगवान के नाम प्रसिद्ध है और वेद में शास्त्र में प्रसिद्ध है लोक में भी प्रसिद्ध है और वेद में प्रसिद्ध है लोक वेद और दोनों में भगवतों का नाम प्रसिद्ध है भगवान के नाम प्रसिद्ध होने से सिद्धम अप्रपंचत्व वास्तव प्रपंच नहीं है वहां प्रपंच रहित है जिस प्रपंच है अद्वैत है वो एक आनंद यथा इत्यादि कहा यथा व्याख्या तस्य ईश्वर से जिस प्रकार से व्याख्या कर दी ईश्वर की विवर्त्य गए ईश्वर करके कहा गया ईश्वर विशेष परमात्मा है जो उत्तम पुरुष शब्द से कहा गया है यथा व्याख्या जिस प्रकार व्याख्या की गई व्याख्या तस्य ईश्वर से ईश्वर का पुरुषोत्तम इतर नाम जो पुरुषोत्तम नाम है ना भगवान का नाम यह पुरुषोत्तम शब्द से कहा हुआ यह नाम प्रसिद्धम प्रसिद्ध नाम है ये कहा लोक में भी प्रसिद्ध है पुरुषोत्तम शब्द से कहते हैं और वेद में प्रसिद्ध है शास्त्र में प्रसिद्ध है तस्य नाम निर्वचन उसका नाम का जो कथन है ना क्या नाम पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध प्रसिद्ध अर्थवत्तम कहते प्रसिद्ध अर्थशाली हो नाम अर्थवान है जैसे उत्तम पुरुष का उत्तम है वो अर्थवत्तम नाम लो दर्शन इस नाम का अर्थशाली दिखाते हुए कहते हैं निरतिशयो जो जिसमें जानवर अतिशय नहीं रहता है क्षर पुरुष की अपेक्षा अक्षर पुरुष अतिशय होता है विशेष होता है किंतु जहां पहुंचने के बाद निर्विशेष हो जाता है उत्तम पुरुष ऐसा होता है वहां अतिशय नहीं होता जहां अतिशय होगा उसमें सातिशय आ जाए फिर दूसरा अतिशय आ जाएगा ये निर्दिशय है निर्दिशय निर्गता अतिशय अस्मात जिससे बढ़कर कोई अतिशय है ही नहीं जहां अतिशय नहीं होता जिससे आगे कोई नहीं है ऐसा अहम ईश्वर इस प्रकार से अपने को ही जानता हो जो व्यक्ति मैं वही परमात्मा हूं ऐसा जानता हो जो लोक और वेद में प्रसिद्ध है पुरुषोत्तम नाम परमात्मा का है वही परमात्मा मैं हूं ऐसा जानता हो अहम ब्रह्माष्टमी ये बात में होता हो यही है जानना है अच्छा अहम ईश्वर मैं वो ईश्वर हूं इति आत्मान है भगवान कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण अपने को ही दिखाते हैं मैं ही ईश्वर हूं उस रूप में परमात्मा हूं शरीर रूप में नहीं परमात्मा जो पांच सौ रुपये जाने वाला शरीर रूप से नहीं उस रूप में परमात्मा ये तो कल्पना है कहते हैं भगवान एक बार नारद जी को कहा माया हेता मयाम मया सृष्टा यन्माम से नारद जो तुम हे नारद तुम मुझे जो जिस रूप में देख रहे हो जो देख रहे हो जिस रूप को देख रहे हो चक्षु से ये मेरी माया है मैंने इसकी सृष्टि की है इस रूप को माता पिता आदि के साधन के मेरा मैंने बना दिया स्थिति है माया हेता मया सृष्टा यन्माम पश्य नारद जिस मुझको तुम देख रहे हो नारद ये तो माया है मैंने सृष्टि की इसकी टूटती जिसको तुम देख रहे हो यही कहना है इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहां आत्म रूप से दिखाते हैं उत्तम पुरुष रूप से अपने स्वरूप को दिखाते हैं निर्विशेष रूप से दिखाते हैं श्लोक में भगवान अपने को साकार रूप में दिखा रहे हैं वास्तविक स्वरूप निर्विशेष है ये तो इस रूप में आना पड़ा कंस आदि को मारने के लिए आना पड़ा ये अलग बात है ये तो मेरी माया रूप माया से रचित रूप है ये ये कहा यथा यथा व्याख्या से कहा था मूल है आगे यस्मात् क्षरवती तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्म लोके वेदे च प्रसिद पुरुषोत्तम यस्मात्ते तो हम अक्षरा चोत्तम अतोस्म लोके वेदे च प्रसिद पुरुषोत्तम यस्मात् कारणात् जिससे मुझे पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं यस्मात् कारणात् जिस हेतु से देखो क्षरम हम कहते हैं मैं क्षेर को तो अतिक्रमण करके बैठा हूं क्षेर पुरुष जो कार्य जगत है सबको मैं अतिक्रमण करके बैठा हूं बिल्कुल वहां पर्स नहीं मेरा मैंने निर्विशेष रूप में बोल रहे परमात्मा यशमात क्षरम अति तो हम अतिक्रांत तो हम क्षेर को मैंने अतिक्रमण किया हुआ है यहां कोई संपर्क ही नहीं होता निर्विशेष में अक्षराद अभी चोत्तम और अक्षर से भी मैं उत्तम हूं अक्षर पुरुष से भी उत्तम हूं सगुण निराकार से भी मैं उत्तम होता हूं मैं निर्गुण निराकार हूं ना है जिस कारण से कहा यही हेतु है कारण आप क्षरम अति तो हम अतिक्रांत तो हम क्षर को तो मैंने अतिक्रमण कर दिया है हाँ, मैं बिल्कुल ऐसी स्थिति है बहुत दूर हूं उसे और अक्षराद भी जो अक्षर पुरुष कहा गया उसे भी उत्तम है हाँ, उसे भी मैं उत्तम अतः इसी कारण से क्षर क्षर को मैंने अतिक्रमण किया हुआ है और अक्षर से भी मैं उत्तम होता हूं इसलिए अतो अस्मि लोके वेदे पुरुषोत्तम अस्मि इसलिए मैं लोक और वेद में दोनों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होता हूं निर्विशेष परमात्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण यहां बोल रहे हैं इसलिए इसी कारण से अतः मैंने इसी कारण क्षेत्र को मैंने अतिक्रमण किया हुआ है और अक्षर से भी मैं दूर हूं उत्तम पुरुष हूं अतः इसी हेतु से कहा लोके वेदे तो पुरुषोत्तम अस्थि अस्मि कहा इसलिए मैं लोक में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं और वेद में शास्त्र में भी मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं तीन पुरुषों में उत्तम पुरुष सारा ब्रह्मांड तीन पुरुषों में दो पुरुषों के भीतर ले लिया और एक पुरुष उत्तम पुरुष यही है भाष्य में कहते हैं यस्मात शरम अतीत हम जिस हेतु से मैं क्षेत्र को अतिक्रमण किया हुआ हूं हेतु विनाशी है मैं विनाशी हूं इसलिए मैं क्षर को तो अतिक्रमण कर बैठा हूं क्षर भूता ने कहा था क्षर संचलन धातु है एक क्षण भी ठीक नहीं रहता जो क्षर कहते हैं उसको संचलन अर्थ में धातु है सम्यक चलनम चली कंपन कंपन होता रहता विचलित होता रहता है ना ये थीरता ना उसको कहते हैं क्षर ये संसार ऐसा ही है क्षर संचलन धातु है सम्यक प्रकार से चलन करता है चल धातु किसमें कंपन अर्थ में है सलीकम पर है स्थिर नहीं होता है कभी भी अस्थिर है क्षणभंगूर है इसलिए उसको क्षर कहा गया जाता है तो क्षर से को तो मैं अतिक्रमण किया हूं अति दूर हो क्षर पुरुष से क्यों मैं अविनाशी में विनाशी है और कूटस्थ तो अक्षर उच्चते कहा था अक्षर कहा था उसको अविनाशी शब्द से लेना होता है किंतु आयु लंबी है उसकी बात इतनी है वो भी विनाशी होता है ब्रह्म ज्ञान काल में नाश हो जाता है इसलिए उससे भी मैं उत्तम हूं यद्यपि वो भी कुटस्थो अक्षर उच्चते कहा था कुटस्थ कहा था अक्षर कहा था उसको अविनाशी कहा किंतु वास्तव में अविनाशी वो भी नहीं है आयु लंबी है इसलिए गौण प्रयोग कर दिया जैसे देवता वो अजर अमर बोलते थे हमारी अपेक्षा अमर बोलते हैं किंतु वो भी मर है मृत्यु होती है उनकी भी अमर तो एक आत्मा ही है परमात्मा ही है देवताओं में अमर शब्द का प्रयोग करना गौण है और आत्मा में अमर शब्द का प्रयोग करना मुख्य है तो अक्षर भी जो अक्षर शब्द जो कहा वो भी गौण प्रयोग किया है वहां वास्तव में उसको भी विनाश होना है ज्ञान काल में तो क्षर से तो दूरों के विनाश ही स्पष्ट है अक्षर से भी मैं उत्तम होता हूं वो अविनाशी उसको हुआ मुझे भी अविनाशी कहा हुआ अव्य कहा ये लोकत्रय महाविश्व विभक्त बे ईश्वर ईश्वर शब्द मुझे भी प्रयुक्त है किंतु मेरे में ईश्वर शब्द मुख्य है और अक्षर में जो कहा गया ईश्वर शब्द विनाशी है अमुख्य है गौण है वो इसलिए यहां उससे भी उत्तम कहा इस बात क्षरम अति तो हम जिससे कि हो तो इसे कि भाई क्षर को तो बहुत दूर से अतिक्रमण करके बैठा हो क्योंकि उसका विनाश होता मेरा नहीं होता क्यों संसार माया वृक्षम ये क्षर पुरुष है तो संसार में जो माया वृक्ष है ना संसार में जो माया वृक्ष है ये क्षर पुरुष होता है वृक्षम अश्वत्थाख्यम जिसको अश्वत्थ शब्द से कहना है कहा पहले कहा अश्वत्थम इत्यादि कहा था अतिक्रांतो अहम कहा इसको तो मैंने जो अश्वत्थ नाम का जो वृक्ष कहा था संसार वृक्ष का मायामय वृक्ष है उसको मैंने अतिक्रमण किया है मेरे में माया नहीं शुद्ध में माया नहीं है मैं शुद्ध हूं ये कहना है अहम और अक्षराध भी जो माया विष्ण चेतन है जो अक्षर कहा गया जिसको ईश्वर बोला जाता है उससे भी संसार वृक्ष भूताद जो अक्षर कौन है वो संसार वृक्ष के बीज स्वरूप है वो संसार वृक्ष जिससे उगता है वो ईश्वर से हो रहा है माया विशिष्ट चेतन से होना है उससे भी उत्तम कहा उससे भी मैं उत्तम हूं क्यों अक्षर शब्द से बोला था चरित्र अक्षर उसको भी अक्षर कहा है और मुझे भी अक्षर कहा हुआ है तो परमात्मा शब्द कहा मैं उत्तम हूं उसे वो लंबी आयु करके नाश होता मेरे कभी नाश नहीं होना उत्तम मैंने उत्कृष्टतम मैं उत्कृष्टतम हूं अतिशय उत्कृष्ट हूं ऊर्धतम ऊपर हूं हम्म, जो अक्षर से भी ऊपर हूं मैं निर्विशेष बात में तक बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धतम वा कहा था उत्कृष्टतम बोले तो ऊर्धतम बोले की बात है अतः इसी हेतु से कहते हैं चरा चराभ्याम उत्तमत्व अक्षर और अक्षर दोनों से मैं उत्तम होने के कारण अश्वमी भवानी मैं होता हूं क्या पुरुषोत्तम होता हूं वह क्रिया वहां ले जाना है पुरुषोत्तम भवामी कहा अश्वी मैंने भवामी होता हूं लोके वेदे चल लोक में लोग लोग बोलते हैं भगवान बोलते हैं और दूसरे बोलते हैं शास्त्रों में भी लोग तो प्रथित मैंने प्रख्यात हो मैं किस नाम से उत्तम पुरुष नाम से प्रख्यात हूं पुरुषोत्तम इतव माम भक्त जना विदु कहते हैं पुरुषोत्तम इस प्रकार से मेरे भक्त लोग मुझे जानते हैं सभी संसारी तो नहीं जानते मेरे भक्त जो होंगे आत्मभक्त जो होंगे वो मुझे पुरुषोत्तम नाम से जानते तीन पुरुष की चर्चा होती है शास्त्रों में क्षर पुरुष अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष माने सगुण साकार सगुण निराकार आकार ये तीन है परमात्मा स्वरूप में आकार विशेष स्वरूप है उत्तम पुरुष मेरे भक्त जानते हैं कहा इतव माम भक्त जहां माने भक्त बोल दिए तो फिर यहां मन आएगा आपका माने उपासक लोग होंगे ऐसा नहीं माने चार प्रकार के भक्तों की चर्चा सप्तम अध्याय में कहते आए भगवान चतुर्विदा भजन देवाम जना सुकृत अर्जुना आर्तो जिज्ञास अर्थार्थे ज्ञानी से परसर ज्ञानी को भक्त कहा है और आगे जाके बोलते तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्त विशिष्ट थे ज्ञानी तो नित्य मेरे में जुड़ा हुआ भक्त है वो उसमें मुझे अकेले में भक्ति है इसलिए प्रिय भी ज्ञान व्यर्थम सत मम प्रिय रहा यद्यपि उदार है चारों के चारों उदार है भगवान के तरफ गए चाहे आर्त हो चाहे जिज्ञास हो चाहे अर्थार्थी हो चाहे ज्ञानी हो भगवान की तरफ गए हुए हैं मांगते हैं तो भगवान से मांगते हैं रोग आदि नाश करना चाहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं डॉक्टर के पीछे नहीं पड़ते भगवान के आराधना प्रार्थना करते रहते हैं मेरे भक्त है वो रोगी भी यदि भगवान को ही चाहता हो उन्हीं के द्वारा रोग निवारण करता हो किंतु तो उसका इतना मात्र है रोग निवारण मात्र के लिए भगवान का भजन कर रहा है क्या होगा आर्त है सिंह के सामने आगे डरा हुआ होता है उस अवस्था में भगवान का नाम देता है सर्व पहुंचता है भगवान रक्षा करो बोलता है वो भी मेरा भक्त है नाम तो लिया उसने मेरे को याद करता है उस काल में एक जिज्ञासु मेरे स्वरूप को जाने के इच्छुक है जैसे उद्धव आदि थे परमात्मा क्या है कैसा है उसको जानने की इच्छुक अन्वेषण करने के लोग वो जिज्ञासु कहलाते हैं अरे जान चुका है ज्ञानी है वो हम बाप से भजन कर रहा है किस बाप से हम बाप से कर रहा है पहली बार द्वैत भाव से कर रहे थे अद्वैत भाव से कर रहा है ज्ञान तो यहां भक्तजन कहने से ज्ञानी यही लेना है यहां पुरुषोत्तम को जानने वाला ज्ञानी होता है कौन होता है ज्ञानी होता है पहले वाले तो सगुण साकार के शरण में होंगे अथवा सगुण निराकार के सगुण उसमें शरण में होंगे तीन प्रकार के भक्त जो होंगे ये तो निर्गुण निराकार में होता है उत्तम पुरुष को सेवन करने वाला तो ये निर्गुण निराकार मैंने ज्ञानी भक्त होता है पुरुषोत्तम कहा पुरुषोत्तम नाम से प्रख्यातों कहा इतम नाम भक्त जना विदु इस प्रकार मेरे भक्तजन जानते हैं विदु लट लकार है प्रथम पुरुष बहुवचन है विदेर लटोवा आता है ना राड़ादि आदेश होते हैं या उस आदेश हो रखा है वर्तमान है ये हाँ, लिट लगा नहीं है तो भक्त जना विदु कहा भक्त जना इसे मेरे जानते हैं पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं कहा और दूसरी बात कवि लोग भी जानते हैं शास्त्र पढ़ने वाले जो लोग होंगे शास्त्र के लोग का भैया काव्यादिष्टम इदम नाम थे कभी लोग जो काव्यादि लिखते हैं ना यही नाम को जोड़ते हैं कौन पुरुषोत्तम नाम को जोड़ते हैं वहां कौन नाम को हाँ, कभी लोग जो प्रांतदर्शी हैं भूत भविष्य वर्तमान दिखने वाले जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी कहते हैं कभी की गति ऐसी होती कल्पना में वो डूब जाता दूर दूर पहुंच जाता है भावी में होने वाले वस्तु को लिख देता है भूतपूर्व में क्या हुआ उसको लिख डालता है हमारे तो वर्तमान में ही है वर्तमान में पूरे नहीं संबद्धम वर्तमान गृह थे चक्राधीन हमारी दृष्टि तो है विषय के साथ सन्निकर्ष भी हो और वर्तमान में हो विषय तभी हम जान पाते हैं हम जान नहीं सकते विषय वर्तमान में होना चाहिए हमारे चक्षुरादि का संबंध होना चाहिए तब समझते हैं हमको नहीं तो पीठ के पीछे क्या हम नहीं जानते वर्तमान में है कुछ है पीछे हम नहीं जानते हमारी तो इतनी अल्प शक्ति है चक्षु किंतु कभी की शक्ति को भूत की बात कर जाते हैं भविष्य की बात कर जाते हैं स्थिति तो कवि लोग अपने काव्यों में लिखते हैं उत्तम पुरुष नाम से लिखते हैं ये कहा पुरुषोत्तम का इसे मैं कवि के काव्यों में दिख रहा हूं पुरुषोत्तम नाम से दिखता हूं भक्त जन मेरे को पुरुषोत्तम कहते हैं उत्तम पुरुष करके मानते हैं ये कहा इदम नाम कवय आदि सूचा माने एक तो भक्त जन जानते हैं बोला दूसरे तो कवि लोग जो होते हैं आदि सो अपने अपने काव्यों में इदम नाम निवाचन इस नाम को जोड़ देते हैं किस नाम को पुरुषोत्तम नाम को पुरुषोत्तम इति अनेर अभिधान अभिग्रहणती कहा पुरुषोत्तम इस नाम के द्वारा अभिधान मारे कथन कथन के द्वारा कथन करते का गृह शब्द धातु है क्रियादि का है इस प्रकार करते हैं गृह शब्द शब्द कर शब्द करते हैं मैंने कथन करते हैं इस नाम के द्वारा ये कहा ठीक है कहना होगा अश्वकोणाधिपत अश्व नामनो रूढ़त्वाद अर्थ विशेष अभावात की लौकिक ईश्वर बद ईश्वरत्व सातिशय सातिशमिति नित्य कहते हैं देखो किसी का अश्वकर्ण रख दिया घोड़े के समान कारण है जिसका वो अश्वकर्ण है क्या वास्तव में नहीं है वो तो मनुष्य कारण वाला है मनुष्य कारण वाला है इस प्रकार ये नाम जो रूढ़ कर दिया है वो परमात्मा में रूढ़ है रूढ़वादी है ये शंका है अश्वकर्णाधिपति अश्वकर्ण शब्द से कहा जाता है किसी मनुष्य को इस प्रकार अश्व नाम है जो पुरुषोत्तम नाम है इस्लाम का जिस नाम आया हुआ पुरुषोत्तम आया हुआ है इस नाम का रूढ़त्व रूढ़ हो गया एक विशेष पदार्थ में रूढ़ हो गया स्थिति है अर्थ बाबत इसमें अर्थ विशेष नहीं है इस्लाम में जैसे उत्तम पुरुष का ऐसा नाम अर्थ नहीं उसका रूढ़ कर दिया जैसे किसी व्यक्ति को बोल दिया वो अशोकर्ण तो अशोकर्ण क्या वो है क्या आई है नाम रख दिया ऐसी स्थिति होती है विशेष इसका अर्थ विशेष न होने से भगवतों भी ये तो भगवान उत्तम पुरुष करके कहा जाए भगवान है इनका भी लौकिक ईश्वरवध ईश्वरतम जैसे लौकिक ईश्वर में ईश्वर तो सातिशय होता है लौकिक ईश्वर का ऐसा होता है जैसे लोग में देखा है कि धनी है गरीब है तो अतिशय उसमें इसकी अपेक्षा ज्यादा है उसकी अपेक्षा और वो होगा जैसे लोग में जो ईश्वर माने जाते हैं बड़े माने जाते हैं वो जो बड़ा माना हुआ उसे बड़ा और आ जाएगा जिसको बड़ा मानेंगे उसे बड़ा और आ जाएगा साधिशय होता है ठीक इस पर वहां भी साधिशय कोई ना कोई इसके आगे भी होगा उत्तम पुरुष से आगे होगा हम्म, जिससे छोटा होगा उत्तम पुरुष से ये शंका है तो रूढ़ होने के कारण ये अर्थ विशेष तो है ही ना इसका इसलिए भगवतो भी जो भगवान उत्तम पुरुष करके कहा गया इनके भी लौकिक ईश्वर लोग में जो ईश्वर माने जाते हैं बड़े माने जाते हैं उनसे बड़ा दूसरा आ जाएगा उसका बड़ा दूसरा आ जाता है ईश्वरत्व साथ ही जो ईश्वरत्व आया इसमें ये सातिशय होगा अतिशय होगा इसके बड़ा कोई होगा पूर्ण ईश्वरत्व नहीं होगा इसमें शंका आ गई तो कहते हैं नित्य ऐसा नहीं ये निर्तिशय ईश्वरत्व इसमें है ठीक है तस्य इत्यादि सब कुछ कहा था तस्य उसका जो नाम है ना उसके नाम निर्वचन के द्वारा ही सिद्ध करते हैं कहा हुआ है उसके नाम तस्य नाम निर्वचन प्रसिद्ध प्रसिद्ध अर्थवत इसका नाम का कथन यह प्रसिद्ध अर्थशाली है इससे बढ़कर कोई उत्तम है ही नहीं ठीक है नामनो दर्शन इस प्रकार से नाम को दिखाते हुए निरुत्सयो अहम ईश्वर इतने आत्मान दर्शन या भगवान श्री कृष्ण अपने को मैं निरुतश ईश्वर हूं जिससे बढ़कर शास्त्र अतिशय नहीं है ऐसा ईश्वर हो निर्विशेष हो या सविशेष भाव में नहीं बोले निर्विशेष भाव बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ठीक है हम कहते हैं यस्मात इत्यस्य अपेक्षितम निक्षुपति यस्मात यह तो संबंध होता है उसके लिए अपेक्षित होगा अपेक्षित क्या होगा अतः शब्द का कहा होगा अतः ये बात के लिए कहा अतः शब्द कहा था अतः चरा चराब्दाम उत्तमत्वाद कहा था मैं क्षर और अक्षर से उत्तम होने से मैं प्रसिद्ध क्या होता हूं उत्तम पुरुष नाम से प्रसिद्ध होता हूं लोग में भी वेद में भी कवि काव्यों में भी कभी लोग इसी नाम से लिखते हैं मुझे उत्तम पुरुष नाम से लिखते हैं लोग में मुझे उत्तम पुरुष कहते हैं किसको निर्विशेष को ये कहा गया आगे टीका में है आत्मनो प्रपंचत्व ज्ञानम फलवक्ति हस्तवती कहते हैं आत्मा जो है ना संसार से अतिरिक्त आत्मा संसारी आत्मा नहीं असंसारी आत्मा और प्रपंच स्वरूप प्रपंच वाले पंच विस्तार धातु है प्रपंच स्वरूप आत्मा नहीं देहादि गत आत्मा नहीं आत्मनो अप्रपंचत्व ज्ञान आत्मा को जो निर्विशेष ज्ञान है अप्रपंच निर्विशेष ज्ञान उसके फल के कथन के द्वारा प्रशंसा करते हैं उसकी तहुति तो यह तो धातु फल के कथन करेगा आत्मा का निर्विशेष ज्ञान होगा तो क्या फल होगा उस फल के द्वारा उस आत्मज्ञान की प्रशंसा करते हैं अपने को निर्विशेष स्वरूप से जो समझता हो उसका क्या परिणाम होगा ये कहते हैं उसका स्तुति करते उस ज्ञान का आत्मज्ञान की स्तुति प्रशंसा करते आगे श्लोक के द्वारा कहा यो बम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति माम न भारत यो मामेपमसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम स भजति माम न भारत यो जो कोई भी हो या जाति पाति आदि कोई लिंग आदि का मतलब नहीं त्रिपुरुष आदि भेदभाव नहीं जो कोई भी यथ शब्द से बोल दिया जो कोई भी मुझे इस ईश्वर को जो जानता हो निर्विशेष को जो समझता हो अहम तो न जानता हो इधम तो न अहम तो मैं ही वही हूं करके जानता हो यो माम एवं इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से कहा हुआ माम मुझको जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं भक्त लोग मुझे जिसको काव्य में कभी लोग पुरुषोत्तम नाम आदि से लिखते हैं मैंने निर्विशेष परमात्मा का चर्चा इस प्रकार से करते हैं उस मुझको यो माम जो कोई एवं असमूढ़ो या, यह असमूढ़ जो विवेकी होगा अविवेकी नहीं विवेकी को असमूढ़ कहा जाता है असमूढ़ा यो असमूढ़ा पुरुषोत्तम माम जानाती है मुझको पुरुषोत्तम नाम से जानता हूं मैं पुरुषोत्तम हूं मैं क्षेत्र पुरुष अक्षर पुरुष दोनों से भिन्न कार्यकार भाव से मैं अतिरिक्त हूं वास्तविक है क्षर पुरुष कार्य होता है और अक्षर पुरुष कारण होता है जगत का कारण होता है ये दोनों से मैं अतिरिक्त हूं इस प्रकार से अपने को समझता हूं माम आत्मान जानाती अपने को जानता हो मैं क्षर अंश भी नहीं हूं अक्षर अंश भी नहीं हूं क्षराक्षर से भिन्न हूं उत्तम पुरुष हूं निर्विशेष हूं इस से जानता हूं मेरे को स वही जानने वाला जो होगा माम जानाते आया है पुरुषोत्तम जानाते जो जानता है स वैसे व्यक्ता सर्ववित सर्ववित्ता हो जाते उसको एकत्व तो ज्ञान हो गया एकत्व तो ज्ञान एक विज्ञान से सर्वज्ञान छांद प्रसिद्ध है जैसे मिट्टी का ज्ञान हो गया तो मिट्टी के बने पात्र सबका ज्ञान हो जाता है क्यों उपादान कारण है वो मिट्टी अथवा विवर्त कारण समझो विवर्त उपादान है है मिट्टी है हम घटाधि रूप से देखते हैं विवर्त उपादान है मिट्टी अथवा सोने का ज्ञान हो गया तो आभूषणों का ज्ञान हो जाता है एक विज्ञान से जितने भी आभूषण संसार में बने हों उसके आकार भिन्न भिन्न होंगे आभूषणों को पहचानने लगेंगे तो कभी जीवन भर हम पहचान नहीं पाएंगे भिन्न देश में भिन्न प्रकार के आकार यहां अलग प्रकार के आकार या सुवर्ण बोलेंगे तो दूसरे देश में दूसरे नाम से बोलेंगे एक ही नाम होना कोई जरूरी नहीं है तो नाम रूप के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी जानना संभव नहीं है इसके मूल कारण को जाने तो सबका ज्ञान हो गया सोना रूप से जहां भी बना हो जो भी नाम हो सोना है हम जानते हैं मृतिका के बनने वाले पात्र भी भिन्न भिन्न होते हैं नाम भी भिन्न भिन्न होंगे हम यहां घट बोलते हैं अन्यत्र और कुछ बोलेंगे यही यही नहीं कि वही नाम बोले सर्वत्र आकार भी भिन्न भिन्न आकार होगा किंतु उन मिट्टी के पात्र को समझने लगेंगे जानने लगेंगे तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे जान नहीं पाएंगे उन पात्र दृष्टि से किस दृष्टि है यदि मूल कारण मिट्टी को जानेंगे तो सब जाने गए ये वही चीज है बस समझ गए तीन दृष्टांत दिया है वहां लोहे का ज्ञान यदि जान लिया तो जितने औजार होते हैं सबको जान लिया होता है और अगर औजारों को जानना सीखेंगे कभी संभव नहीं है तो टेढ़े मेढ़े आकार भिन्न भिन्न होते हैं रूप भिन्न भिन्न है सभी एक ही जगह के आकार बनाएंगे नहीं एक ही नाम भी नहीं होगा या लोह बोलते तो और ताम्र बोलेंगे कुछ बोलेंगे तो कहां तक जान पाएंगे एक विज्ञान से सब विज्ञान इस प्रकार आत्मा में सारा कल्पित है लोहा आदि जितने औजार है लोहे में कल्पित है लोहा को जाने से ज्ञान हो गया लोहे के बने जितने ये संसार उस पुरुषोत्तम में कल्पित है तो एक विज्ञान से सर्वविज्ञान इस प्रकार का है तो यही है ये कहना है ये सर्वविद वही सर्वविदता होता है तो पुरुषोत्तम नाथ से निर्विशेष का जो ज्ञान जो जानता हो कहा योगाम असमूढ़ असमूढ़ यह माम एवं पुरुषोत्तम जाना थी पुरुषोत्तम को इस प्रकार जानता हूं जो पूर्व में कहते हैं पुरुष को माध्यम से जानता हो पुरुषोत्तम को जानता हो निर्देश को जानता हो स सर्वविद वही सर्वविदता होता है सबको जानने वाला होता है एक विज्ञान से सर्वविज्ञान क्यों उसी में कल्पना है सारे संसार मैं क्षण पुरुष भी उसी में कल्पना है अक्षर पुरुष भी उसी में कल्पना है उपाधि विशिष्ट होकर कल्पना की गई है मुख्य वही एक ही है तो एक को जाना तो सबको जाना स्थिति एक विज्ञान से सर्वज्ञान होने से सर्वित भवती सर्ववेत्ता होता है वो भजती सर्व सर्वेत्त माम भजती वो सर्वेत्त क्या माम निर्विशेषम भजती यही अर्थ है निर्विशेष को भजन करेगा सेवन करेगा अक्षर को नहीं अक्षर को नहीं अद्वैत भाव से भजन करेगा सर्वभावे ना कहा हर प्रकार से मेरा ही भजन करता है अन्य नहीं ये भारत का यह अर्जुन के लिए विशेषण है भारत वंश में उत्पन्न होने का भारत का भाष्य में कहते हैं यो माम ईश्वरम जो मैं ईश्वर हूं विवर्ती विवर्ती अव्यय ईश्वर कहा था अत्र विश्व में कहा था ये लोकत्र माविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर अविनाश ईश्वर सारे लोगों को भरण करता है सत्ता स्फूर्ति मात्र से कहा था वही है ईश्वर यही शब्द से माने निरुपाधिक के नाम है ईश्वर योमाप ईश्वरम यथा निरुक्तम जिस प्रकार से कहा गया उत्तम पुरुष आदि नाम से कहा गया क्षर अक्षर से अक्षर से तो बहुत दूर कहा अतिक्रमण करके बैठा हो कहा और अक्षर से भी उत्तम हो कहा स्थिति है यथोक्त यथा निरुक्तम आत्मा जिस प्रकार से निर्वचन हुआ है अपने को अपने स्वरूप को इस स्वरूप यो वेद माम वेद है ना यो माम माम का है वेद जो जानता हो तस्य ही तो फल उचित कहा उसका ही फल कहा जाता है मेरे को आत्मभाव से जो जानता हो उसका फल क्या होगा हमेशा मेरा ही भजन करता रहेगा अन्य का भजन नहीं अन्य कोई है ही नहीं उसी दृष्टि में अद्वैत भाव में पहुंच गया है चाहिए देखा माम ईश्वरम यथोक्त विशेषण जो विशेषण पुरुषोत्तम विशेषण लगाया हुआ है विशेषण एवं इस प्रकार यथोक्त न प्रकार एवं प्रार्थना जिस प्रकार बताया गया उस प्रकार से भजन करता हो कहा जान, जानता हो यह असमूढ़ मान समूह वर्जित अज्ञान शून्य जो व्यक्ति होगा मोहवर्जित होगा असमूढ़ समूह वर्जित असम समूह से मान अविवेक से रहित होता हुआ जानाति जानता है किस रूप से कहते हैं अयम अहम अस्मि यही मैं हूं इस रूप से जानता हो शास्त्र में आया हुआ जो उत्तम पुरुष मैं ही हूं मेरे से भिन्न नहीं है मैं भिन्न नहीं हूं ऐसा जानता हो अयम अहम अस्मि यही मैं हूं ऐसा जानता हो पुरुषोत्तम अहम अयम अहम अस्मि पुरुषोत्तम ये कहा मैं यही पुरुषोत्तम मैं हूं ऐसा जो जानता हो अद्वैत भाव से जानता हो स सर्वविद वही सर्वविदता होता है एक विज्ञान से सर्वविज्ञान अपने को उत्तम पुरुष जगत की कल्पना छह अक्षर पुरुष की कल्पना उत्तम पुरुष में है माया विशिष्ट होने से अक्षर कहा गया और शरीर आदि विशिष्ट होने से क्षर कहा गया इत्यादि तो यही है ना उपाधि विशिष्ट थे तो उसे भिन्न परमात्मा रूप देखेगा तो दोनों वही रूप में सबको जानेगा क्षर को भी जानेगा अक्षर को जानेगा उसमें कल्पना है सर्वोत्मा सर्वात्मा सर्वरूप से हर प्रकार से सर्वम व्यक्ति थी सर्वज्ञ हर प्रकार से सबको जानता हो तो जाना जाता है सर्वज्ञ कहा जाता है सर्वज्ञ वही होता है को एक को जाने से सर्वज्ञ हो गया मूल कारण जाना उसको कल्पना है सारी मूल को जाने से जान लिया तो सर्वज्ञ कहा जाता है सर्वभूतस्तम बजते जो सर्वज्ञ जो मैं हो ना उसका सर्वज्ञ पुरुष सर्वभूत में स्थित माई को मेरे को भजन करता है एक ही हो मैं सर्वत्र भूत कल्पना है कल्पित है मेरे में कल्पना है जैसे शादी में जेवरादि सोने में जेवरादि की कल्पना होती है वो सोना ही है सोना से अतिरिक्त नहीं है इस तरह से अद्वैत भाव में पहुंचता है जो व्यक्ति उसे ज्ञानी कहते हैं माम कहा मुझको भजन करता है ये कहा सर्वभाव है न सर्व सर्वात्म चित्ततया पूरे के पूरे चित्त अर्पित करके भजन करता हो मेरे भाई अन्यत्र कुछ चित्त नहीं जिसका हम्म। मेरे को ही भजन करेगा मेरे को जानता है तो मेरे को भजन करेगा जब तक मेरे को नहीं जानता तो वो संसार का भजन तब तक करता है बात इतनी है शरीर आदि का सेवन आदि भजन आदि हाँ, तब तक करेगा जब तक मुझको नहीं जानता समझ लिया तो फिर अन्य के सेवन नहीं करेगा सेवन करता नहीं ये कहा हुआ है समय हो गया है आगे फिर करें